अल्लाह को छोड़कर जिनसे ये दुआएं मांग रहे हैं वो सिर्फ चंद जनानियां हैं और जिसको ये पुकार रहे हैं वो सरकश शैतान के सिवा कोई नहीं